दरुज शरीफ बसमीम वाखरजल बुखारी यू अन साहलिबन सादिन रदी अल्लाह अन्न रसूल अल्लाह सल्ला वसम काल योम खैबरा लाऊतियन हादिर्राया गदर रजुलन यफ़्तल्ला यदई युहिबुल्ला व रसूल ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبو طالب فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فارسل إليه فأتى فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرا حتى كعلم يكن به وجع فأتاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم इलामी वाकबिर हम बिमा यजिब अलहिम मिन हक़ ताफ़ी फ़वल्लादिल्लाबिकरजुलन वाहिदन खैरुल्लका मी अकून लका हमरनाम अनिल मकदाद इबन उमर قال أنا أسرت الحكم ابن كيسان فأراد أميرنا ضرب عنقه फ़कुल तुदाह नकदम बिही आला रसूल सल्ला वसम फ़कदमना फ़जाला रसूल सल्ला वसम यदूहलाम फ़ाताल फ़काल उमर अलामा तुकलम हादा या रसूल अल्लाह वल्लासलम हादा आखिर अबद दानी अदरब उनकहू वयकदम इला उमिल हाविया फ़जाल नबी सल्ला वसम لا يقبل على عمر حتى أسلم الحكم فقال عمر فما, ها فما هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخر وقلت كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة الله ورسوله فقال عمر فأسلم والله فحسن إسلامه वजाहदफ़िल्ला हत्ता कुतला शहीदम बिबीर माऊनता व रसूल सल्लम राजिन अनहू व दखल जिनान मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों अजीज़ों हमारे मिजाजों में तकाज़ों को लेने का जज्बा कम हो गया वरना साहबा के ज़माने में अगर कोई दीन का तकाजा सामने आता हर साहबी हर साथी के दिल में ये जज्बा होता कि वो काम मुझे मिल जाए साथी कम थे काम ज़्यादा साथी कम थे काम ज़्यादा लेकिन उन लोगों की शौक की वजह से वो काम कम दिखते थे उन लोगों के ज़्यादा करने की वजह से वो काम कम दिखते थे और साथ ही ज़्यादा दिखते थे लेकिन मेरे अजीज़ों हमारी हालत ऐसी है साथ ही ज़्यादा हैं काम कम हैं लेकिन तकसीम के वक्त में वो काम गोल फिर के आता है कई हाथ बदलने के बाद फिर वो काम मिलता है फिर उसके पूरे होने तक ना जाने कितनी नज़ाकतें होती हैं काम करने वाले साथियों के दिल में ये जज्बा हो कि आने वाला हर तकाजा मैं पूरा करने वाला बन जाऊं अल्लाह ताला मुझे ज़रिया बनाकर उस तकाजे को पूरा करा ले अल्लाह ताला मुझे ज़रिया बनाकर उस तकाजे को पूरा करा ले इस जज्बे के साथ जब हम काम करेंगे अल्लाह ताला फिर हमें काम भी देंगे और काम पूरा करने की तोफ़ी भी देंगे काम भी देंगे और काम पूरा करने का पूरा करने की तोफ़ी भी देंगे अगर किसी को कोई काम ना मिले अगर किसी को कोई काम ना मिले वो अपने आप को उसका हकदार समझे ये काम मैं करूँगा मैं करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर वो काम नहीं मिला उसको तो फिर मुलामत भी ना करे किसी की फिर किसी की मुलामत भी ना करे अगर वो काम किसी को मिल गया तो उसका हकदार उसी को समझे जिसको वह मिला है उस काम का हकदार उसी को समझे और जिसको वह काम मिला है मशहूर ऐसे जिसके लिए जो काम दिया गया है जिसके लिए बस यही समझे कि उसके लिए वही ठीक था मेरे अजीज़ साहबा में ये बात थी साहबा कराम रिजवान तजमैन के अंदर ये बात पड़ी हुई थी यह उनके घुट्टी में थी यह उनकी फितरतों और आदतों के अंदर थी कि तकाजे का चाहत तो हर कोई करते लेकिन जब काम किसी को मिलता तो उसका हकदार उसी को समझते उसके लिए तजाद और मुकाबला नहीं करते जैसे देखो बुखारी शरीफ की रिवायत है साल इबन साद रदी अल्लाह तु रिवायत करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन कहा कल सुबह को मैं ऐसे इंसान के हाथ में झंडा दूंगा कि अल्लाह ताला उसके हाथ पर खैबर की फतह देंगे अल्लाह भी उससे राज़ी होंगे अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करेंगे ऐसे आदमी के हाथ में मैं सुबह को झंडा दूंगा साहबा ने सबने सुना रात में कोई सोया नहीं इस शौक में कि वो झंडा मुझे मिले या किसे मिले एक तकाजा सामने आ गया रात में तो रात ऐसी गुजारने कि बस वो झंडा मुझे मिले या किसे मिलता है देखें शौक में पूरी रात गुजार दें जब सुबह हुई सारे साहबा जमा हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली इबन अभी तालिब कहाँ हैं तो साथियों ने सुनाया या रसूल अल्लाह अली की आँख दुखनी आई है अली की आँख में ख़राबी है इसलिए वो घर पर हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको बुलाओ जब आए अली रज़ी अल्लाह तु तो उनकी आंख पर हाथ फेरा और उनके लिए दुआ की हज़रत अली रज़ी अल्लाह तु के लिए तो वो आँख उसी वक्त में ठीक हो गई वो आँख उसी वक्त में ठीक हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झंडे को हज़रत अली के हाथ में दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तु के हाथ में दिया तो अली रज़ी अल्लाह ने कहा या रसूल अल्लाह कल सुबह को मैं लड़ाई में जाऊंगा तो मैं इतना लड़ूंगा इतना लड़ूंगा कि वो लोग भी हमारे जैसे हो जाएं वो लोग भी बस उनसे मैं ऐसी ऐसा किताल करूंगा ऐसा जिहाद करूंगा कि बस वो लोग भी हमारे जैसे यानी कि ईमान वाले बन जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं करना ऐसा हरगिज़ नहीं करना बल्कि उनके साथ सिला रहमी करना के साथ क्या करना सिला रहमी करना जब तुम किसी जगह पर ठहरो तो पहले उनको खबर करना उनके छोटों के साथ उनके जानवरों के साथ और उनकी चीज़ों के साथ भलाई का मामला करना फिर उसके बाद उनको दीन की तरफ दावत देना अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को बताना फिर उसके बाद उनके साथ मुकातला करना ए अली अगर तुम्हारे हाथ से ये एक आदमी ईमान पर आ गया आफियत के साथ वो तुम्हारे लिए सुरख उठनी से बेहतर है सुरख उठनी से बेहतर है तुम्हारे एक आदमी का मर कर तुम्हारे हाथ पर जहन्नम में चले जाना या जहन्नम रसीद हो जाना उससे बेहतर यह है एक आदमी तुम्हारे हाथ पर जिंदा रहकर ईमान ले आए वो तुम्हारे लिए सुर्ख उठनी यानी कि माल गनीमत से बेहतर है दूसरी रिवायत मकदाद इबन अमर रजी अल्लाह तु कहते हैं मैंने हकम इबन कैसान को गिरफ्तार किया मैंने इरादा किया उनकी गर्दन उड़ा देने का ये कैदी है काफिर है इनकी गर्दन उड़ा दो तो मैंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे इसको पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाएंगे अब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में हमें बताएं हम ऐसा ही करेंगे ऐसा ही करेंगे जो हकम इबन कैसान को मकदाद इबन अमर रजी अल्लाह तुम फरमाते हैं हकम इबन कैसान को लेकर मैं मेरे अमीर के पास गया तो अमीर साहब ने इरादा किया कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ तो मैंने कहा उनसे अपने अमीर साहब से कि नहीं अमीर साहब ऐसा नहीं पहले इसको हम रसूल वसलम के पास ले जाएंगे और जैसे रसूल वसलम हमें हुक्म दें हम वैसा काम करेंगे इसके साथ तो रसूल वसलम के पास ले आए तो रसूल वसलम अलैहि उसको दावत देने लगे और दावत देने लगे बहुत देर तक बात करने लगे तो उमर रजियात ने कहा दौरान बात करने के या रसूल अल्लाह तुम किस बात पर इसको दावत दे रहे हो ये क़ियामत तक मुसलमान नहीं होने का मुझे इजाज़त दे दो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँगा ये अपनी माँ हाविया के पास चला जाएगा अपनी माँ हाविया मतलब जहन्नम रसीद हो जाएगी मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा अभी और ये जहन्नम में चला जाएगा तुम इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हैं तो काफिर है कैद होकर हमारे पास आए हैं इसके साथ हम क्या भलाई का मामला करना बस इसे गर्दन उड़ा दो हजरत उमर ने कहा लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर उससे बात करने के लिए मशगूल हो गए फिर उससे बात करने के लिए मशगूल हो गए बात करते रहे करते रहे करते रहे यहाँ तक के हकम इबन कैसान मुसलमान हो गया तो उमर रजादन अपने आप से कह रहे तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी अल्लाह के रसूल वो तुझसे ज़्यादा जानने वाले हैं और तुझसे ज़्यादा समझ रखने वाले हैं तू हर काम में बीच में बोल पड़ता है अपने आप से हज़रत उमर फरमा रहे तो फिर कह रहे हैं अपने दिल में ही कि मैं तो उनके भलाई के लिए कहा था कि हुजूर थक जाएंगे परेशान हो जाएंगे और कितनी देर तक बात करेंगे कि उनकी उनकी भलाई के लिए मैंने कहा था कि उसको दावत मत दो मैं इसकी गर्दन अभी उड़ा दूंगा तो ख़ुद हज़रत उमर हजरत फरमाते हैं कि हकम इबन कैसान बहुत अच्छे मुसलमान बने और अल्लाह के रास्ते में बहुत जिहाद भी किया और अल्लाह के रास्ते में बीर मऊना की लड़ाई में शहीद भी हुए अल्लाह के रसूल उनसे राज़ी थे अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिला अता फरमाए हकम इबन कैसान ने और ईमान लाने की कैफियत जहरी ने यह रिवायत की है कि या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये एक अल्लाह की इबादत करना मेरे अल्लाह के बंदे और उसके रसूल होने की गवाही देना इतना कहते ही हकम इबन कैसान मुसलमान हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवजह हुए जैसे उससे बात कर रहे थे हमारी तरफ मुतवज्जे हुए मुतवजह होकर कहा अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो यह जहन्नम में चला जाता अगर मैं तुम्हारी बात मानकर इसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म देता तो फिर ये कहाँ चले जाता जहन्नम के अंदर चले जाता इस बात से हम लोगों को बहुत नदामत हुई मेरे अजीज़ों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैदी जो बादशाह लोग मरने बादशाहों के पास जो कैद होते हैं वो मरने के ही लिए लाते हों जिहाद में पकड़े जाकर जिन कैदियों को लाते और उनको उमूमन उमूमन फांसी की ही सज़ा सुनाते जो कैदी सिर्फ मरने के ही लिए आते थे उनके साथ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक का बर्ताव करते उनके साथ भी अखलाक का बर्ताव करते और ये चाहते ये चाहते कि अल्लाह ताला उन लोगों के लिए भी हिदायत अता फरमाए उन लोगों के लिए भी हिदायत का फरमाए हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है हम हर एक के साथ अखलाक का बर्ताव करें हमारी फ़िक्र ये हो हमारी बात अच्छी हो हमारी बात चले ये फ़िक्र नहीं हमारी ये फ़िक्र हो कि हम जिससे बात कर रहे हैं कि वो ईमान में आ जाए आमाल में आ जाए और जो है अल्लाह की इतात में आ जाए अल्लाह रब्ज़त हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तोफ़ी नसीब फरमाए रबना आतिना फिर दुनिया हसनत फिल आखिरत हसनत वकीना दाबन्नार रबना ज़लमना अनफुसना वलम तकफ़िलना वतरहमना लनकून मिन अलखासरीन रब जालनी मुकीम असलाती वमन ज़ुर्रियत रबना वतकबल दुआ अल्लाहुम्म इन्नी असलुक बिअन्न लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत या हन्नानुल मन्नान बदीउ السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस बिरहमतिक या रहमर राहमीन सल्ला तखिर खल़ी महमद वाली वासहाबी अजमाइन बरहमत यारहमर्राहमीन वलहमदिल्ला रबीआलम